नाग खग नागमाहि मोरे अनुचर कह कौलाहे हरदूषण मोहि समबलन् ता चिन्हि कुमार बिनु भगवन् भंजन मही भाराम जो भगवंत भगवन्तलिह्नयवतारां तो मैं जाए जाय बैरुहठिकर प्रभु सर प्राण तजे भवतर वह मन ही मन विचार करने लगा देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा हो भजन तामस दे मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ जो नर रूप भूप सुत को हरिह नारी जीत रन दो चलाय केल जान चढ़ित बस मारी च सिंधु तट जहाँ यहाँ राम जस जुगुत बनाए सुनहु राउमा सो कथा सुहाए इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख कंद लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर नर लीला तुम पाव कुमह जो निवास लीकरं निशाचर नाम् जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरि अनल समानी निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे शील रूप सुविनीता हे प्रिय हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले सुनो मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी लक्ष्मण हो यह न जाना जो कछु चरित रचा भगवान दस मुख गय जहाँ मारी चा नाई माथ स्वा रथ रतने चाम नवनीच अति दुखदाये जिमियंकुशधनो उरग बिलाये भयदायक खल के प्रिय बाने जिमिय काल के कुसुम भवानी भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीस था और उसको सिर नवाया नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना हे भवानी दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फल करी पूजा मारी चतब सादर पूछे बात कवन हे तुमन व्यग्रयते अकसर याहुतात तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी हे तात आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं